कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर तेरा भाग एक विरोधों में प्रकट सत्य जैसे किसी सरोवर के किनारे कोई वृक्ष खड़ा हो तो सरोवर में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होगा तट पर खड़े हुए वृक्ष की शाखाएं आकाश में ऊपर की ओर फैली होंगी तट पर खड़े वृक्ष का मूल जड़ें नीचे जमीन में फैली होंगी लेकिन प्रतिबिंब उल्टा होगा उसमें जड़ें ऊपर होंगी शाखाएं नीचे होंगी सभी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं हो सकता इस वैज्ञानिक सत्य को ध्यान में रखकर इस सूत्र को समझना बहुत आसान होगा चीजें जैसी हैं ठीक उससे उल्टी दिखाई पड़ती है क्योंकि देखना भी एक तरह का प्रतिबिंब है आंख भी एक दर्पण है आंख पर भी प्रतिबिंब बनते हैं प्रतिबिंब सभी उल्टे हो जाते तो इस जगत को जैसा हम देख रहे हैं ये जगत इससे ठीक उल्टा है जगत का जो नियम हमें मालूम होता है वास्तविक नियम उससे ठीक उल्टा होगा आभास सत्य से विपरीत होते हैं इस मौलिक विचार के आधार पर भारत के मनुष्यों ने एक बहुत पुराना प्रतीक उपयोग किया है वो प्रतीक ऊपर की ओर मूल वाला है और नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है इसका मूलभूत तत्व वह परमेश्वर ही है वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है हम तो जो भी देखते हैं उसमें जड़ें नीचे की तरफ है शाखाएं ऊपर की तरफ है लेकिन ये यम का सूत्र नचिकेता को कहा गया है इसमें यम कह रहा है कि ऊपर की ओर मूल नीचे की ओर शाखाएं जैसा भी हमारा जानना है जीवन का सत्य उससे ठीक विपरीत है इसे हम कुछ जीवन के अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करें हम सोचते हैं कि मृत्यु जीवन की दुश्मन है लेकिन सत्य बिल्कुल विपरीत है मृत्यु के बिना जीवन हो ही नहीं सकता तो मृत्यु जीवन की शत्रु तो जरा भी नहीं मित्र है मृत्यु के बिना जीवन के होने की कोई संभावना नहीं जिस दिन मृत्यु मिट जाएगी उसी दिन जीवन भी मिट जाएगा लेकिन हमारे देखने में सब चीजें उल्टी हो जाती हमें लगता है कि जीवन और मृत्यु में विरोध है जबकि वस्तुतः मृत्यु ही जीवन का आधार है और मृत्यु के बिना जीवन हो नहीं सकता हमें अनुभव में आता है कि प्रेम और घृणा विपरीत है जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है मनस्वित कहते हैं कि प्रेम और घृणा एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं वे साथ साथ हैं फ्रायद ने जो महानतम खोजें सदी में की उसमें एक खोज ये भी थी कि आदमी जिसको प्रेम करता है उसी को घृणा भी करता है हम भी अगर थोड़ा सोचें तो ख्याल में बात आ सकती है आप किसी भी व्यक्ति को सीधा शत्रु नहीं बना सकते शत्रु बनाने के पहले मित्र बनाना जरूरी होगा सीधा शत्रुता पैदा ही नहीं हो सकती शत्रुता के लिए पहले मित्रता चाहिए तो मित्रता शत्रुता का पहला कदम अनिवार्य कदम उसके बाद ही शत्रुता हो सकती तो शत्रुता और मित्रता विपरीत नहीं बल्कि एक ही पहलू के एक ही सिक्के के दो पहलू जिस जिस को हम प्रेम करते हैं उस उसको घृणा भी करते हैं और जिस जिस को हम घृणा करते हैं उस उसको हम प्रेम भी करते हैं शत्रुओं से हमारा बड़ा लगाव होता उनकी याद आती है उनके बिना हम अधूरे हो जाएंगे उनके बिना हमारे जीवन में कुछ खाली हो जाएगा उसी तरह जैसे मित्र के मिट जाने पर कुछ खाली हो जाएगा मित्र भी हमें भरते हैं शत्रु भी हमें भरते हैं बुद्ध ने कहा है कि मैं कोई मित्र नहीं बनाता क्योंकि मैं कोई शत्रु नहीं बनाना चाहता हूं पर हम तो सोचते हैं शत्रु और मित्र विपरीत है जीवन में ऐसी बात नहीं है हम तो सोचते हैं रात और दिन विपरीत है अंधेरा और प्रकाश विपरीत है सच्चाई यह नहीं है अंधेरा प्रकाश का ही एक रूप है प्रकाश अंधेरे का ही एक ढंग है वे दोनों एक ही ऊर्जा के अलग अलग क्रम अगर जगत से अंधकार पूरी तरह मिट जाए तो हमारी साधारण बुद्धि कहेगी कि सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा विज्ञान इससे राजी नहीं होगा विज्ञान कहेगा अंधकार अगर बिल्कुल मिट जाए तो प्रकाश बिल्कुल मिट जाएगा या प्रकाश बिल्कुल मिट जाए तो अंधकार बिल्कुल मिट जाएगा अगर जगत से घृणा बिल्कुल मिटानी हो तो प्रेम को बिल्कुल मिटाना पड़ेगा जब तक प्रेम है घृणा जारी रहेगी जब तक मित्र हैं तब तक शत्रु पैदा होते रहेंगे और अगर मृत्यु को बिल्कुल पहुंच देना हो तो जन्म को बिल्कुल पहुंच देना होगा जब तक जन्म है मृत्यु होती रहेगी अगर दुनिया से युद्ध मिटाने हो तो हम सोचते हैं कि जब युद्ध मिट जाएंगे तो दुनिया में परम शांति होगी लेकिन अगर युद्ध अगर बिल्कुल मिट जाए तो शांति भी मिट जाएगी ये जरा कठिन मालूम पड़ता है यही हमारे आभास और सत्य का विपरीतता है दुनिया में तभी तक शांति रह सकती है जब तक युद्ध जारी रहेंगे शांति और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं उनमें से एक भी खो जाए तो दूसरा भी खो जाएगा हम सोचते हैं कि बीमारी है स्वास्थ्य है विपरीत है और हमारी चेष्टा होती है कि ऐसा वक्त आ जाए कि आदमी के जीवन में कोई बीमारी ना रहे जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन कोई स्वास्थ्य भी ना रह जाएगा इस बात की संभावना है कि वैज्ञानिक धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था निकालने की बीमारी ना रह जाए वो व्यवस्था एक ही हो सकती है कि धीरे धीरे वो मनुष्य के सारे अंगों को बदल डाले उनकी जगह प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील और कृत्रिम अंगों को डाल दें बीमारी मिट जाएगी लेकिन स्वास्थ्य भी मिट जाएगा स्वास्थ्य का जो अनुभव जो वेल बीइंग है वो स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के अंगों से नहीं हो सकती बीमारी के साथ ही जुड़ा है स्वास्थ्य अब इस बात के उपाय हैं अब हृदय बदला जा सकता है मस्तिष्क के हिस्से भी बदले जा सकते हैं आज नहीं कल सारे के सारे मनुष्य के शरीर में जो भी खराब होने वाले जिनकी संभावना रुग्ण होने की ऐसे जो भी अंग हैं वो सब अलग कर दिए जा सकते हैं प्लास्टिक बीमार नहीं पड़ेगा स्टेनलेस स्टील बड़ी लंबी उम्र की होगी आपके हाथ में हड्डियों की जगह स्टेनलेस स्टील हो सकती नसों की जगह प्लास्टिक की नसें होंगी और आज नहीं कल हम खून से भी बेहतर रासायनिक द्रव्य खोज सकते हैं शरीर को पूरा का पूरा यंत्र के वत बनाया जा सकता है फिर शरीर बीमार नहीं पड़ेगा लेकिन भीतर जो आत्मा छिपी है उसको स्वास्थ्य का भी कोई अनुभव नहीं होगा असल में स्वास्थ्य बीमारियों के बीच एक संतुलन है और बीमारियां स्वास्थ्य का डगमगा जाना है दोनों साथ हैं एक को हटा दें दूसरा विनष्ट हो जाता है लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं पड़ता हमें तो दिखाई पड़ता है कि एक को मिटा दें तो दूसरा बचेगा यही हमारे आभास की विपरीतता है तो जहां जहां हमें जैसा जैसा दिखाई पड़ता है बहुत गौर से उससे उल्टा करके सोचना उल्टे के सत्य होने की संभावना ज्यादा है ऐसा देखें जहां जहां मनुष्य को सुख दिखाई पड़ता है वहां वहां अंत में दुख हाथ लगता है लेकिन मन कहता है कि जहां सुख दिखाई पड़ता है वहां सुख होगा खोजने पर दुख हाथ लगता है और जीवन में अनेक बार हम प्रयोग कर चुके जहां सुख दिखाई पड़ा वहीं दौड़े और पाया कि दुख हाथ लगा ऋषियों ने इस सूत्र को उलट लिया उन्होंने कहा जहां जहां दुख दिखाई पड़े वहां वहां प्रवेश करने की कोशिश करना जब सुख दिखाई पड़ने पर दुख मिलता है तो जहां दुख दिखाई पड़ता है उसमें खोजने से सुख मिलेगा इस वैज्ञानिक खोज का नाम ही तप है तप का मतलब है दुख में खोजना सुख को क्योंकि सुख में खोजने वाले दुख पा रहे हैं सूत्र उल्टा लिया एक यात्रा भ्रांति में ले जाती थी तो हमने दिशा बदल ली भोगी हम उसे कहते हैं जो सुख के आभास में सोचता है कि खोजने से सुख मिलेगा योगी हम उसे कहते हैं जिसकी ये भ्रांति टूट गई हो जिसने सूत्र को उल्टा कर लिया और अब जो दुख में कोशिश करता है खोजने की और जो व्यक्ति दुख में खोजता है वो निश्चित ही सुख पाता है क्योंकि सुख में खोजने वालों ने सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं पाया है इस बात को कि जीवन के सत्य हमें उल्टे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारा चित्त उनके प्रतिबिंब बनाता है झील की भांति वृक्ष उल्टा हो जाता है तो इसके पहले कि आप अपने जीवन का दर्शन निर्मित करें जीवन का पथ चुने और जीवन का गंतव्य चुने इस महत्वपूर्ण बात को स्मरण रखना इसलिए ऋषियों ने कहा है कि जो वृक्ष तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जड़ें नीचे और शाखाएं ऊपर वस्तुतः इससे उल्टा होगा जीवन के वृक्ष की शाखाएं ऊपर नहीं नीचे और मूल नीचे नहीं ऊपर है इसे शाश्वत सनातन पीपल का वृक्ष ऋषियों ने कहा है ये तो सिर्फ काव्य प्रतीक है और इस काव्य प्रतीक को जीवन में उपयोग किए बिना और जीवन में जगह जगह नियोजित किए बिना इसका अर्थ साफ नहीं होता है ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है इसका मूलभूत तत्व परमेश्वर ही है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता दिखाई हमें पदार्थ पड़ता है दिखाई हमें पड़ता है पदार्थ और वस्तुता है परमेश्वर परमेश्वर हमें अदृश्य है पदार्थ हमें दृश्य जब कोई व्यक्ति जीवन की इस प्रक्रिया को उल्टा करता है तो पदार्थ अदृश्य होने लगता है और परमात्मा दृश्य होने लगता है और जिस दिन पदार्थ पूरी तरह अदृश्य हो जाता है सिर्फ परमात्मा दृश्य रह जाता है उस दिन जानना कि सत्य की अनुभूति हुई इसलिए उस परम अवस्था में ज्ञानियों ने जगत को माया कह दिया कह दिया इसलिए कि वो दिखाई नहीं पड़ती थी खो गई जैसा कि अज्ञानी ईश्वर को असत्य कहते हैं कहेंगे ही जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है अज्ञानी कहता है कहां है ईश्वर उसे दिखाने का कोई उपाय भी नहीं क्योंकि सवाल ईश्वर के होने का नहीं सवाल अज्ञानी के देखने के ढंग का है उसके देखने का ढंग ऐसा है कि पदार्थ पकड़ में आता है और ईश्वर छूट छूट जाता है ज्ञानी को पदार्थ पकड़ में नहीं आता छूट छूट जाता है सिर्फ परमेश्वर ही पकड़ में आता है इसलिए अज्ञानी कहता है जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या ज्ञानी कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उल्टा हो जाता इसे अग, इस गणित को अगर आप ख्याल रख लें और जीवन में थोड़ा सा इसका उपयोग करने लगे तो आप पाएंगे आप बदलने लगे आप नए होने लगे इसका कैसे उपयोग करें ये तो मैंने आपको तात्विक उदाहरण दिए आचरण में इसका उपयोग हो सकता है ये सूत्र बड़ा कीमती है जब कोई गाली दे तो आपको क्रोध पैदा होता है ये सहज प्राकृतिक अज्ञानी मनुष्य की स्थिति ज्ञानी कहते हैं जब कोई क्रोध करे तो क्षमा पैदा हो उल्टा कर लेना है जब कोई क्रोध करे तो क्षमा करना है क्षमा के भाव को जन्माना तुम्हारा जीवन नया हो जाए जब कोई गाली दे और क्रोध तुम करो तो तुम्हारा जीवन जैसा था वैसा ही रहेगा उसमें कोई रूपांतरण संभव नहीं क्योंकि तुम कोई बुनियाद बदल नहीं रहे हो जब कोई तुम्हारा आदर करे तो हम प्रफुल्लित होते प्रसन्न होते ज्ञानी ने कहा है जब तुम्हारा कोई आदर करे तब तुम उदास हो जाना उपेक्षा से भर जाना क्यों जब कोई आदर करता सम्मान करता तो हम प्रसन्न होते हैं क्योंकि अहंकार तृप्त होता है और अहंकार रोग है इसलिए आपके दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितने आपके खुशामदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे आपके अहंकार को भर रहे हैं कबीर ने तो कहा है कि आंगन कुटी छबाकर जो तुम्हारी निंदा करते हो उनके अपने घर के पास ही बसा लेना ये उल्टा जो तुम्हें गाली देते हो उनको तो मकान के बगल में ही बसा लेना ताकि सुबह शाम वे तुम्हें गाली देते रहे क्योंकि जो तुम्हें गाली देता है वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और जो तुम्हारी प्रशंसा करता है स्तुति करता है वो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है और अहंकार ही महारोग वही दुख का आधार है स्रोत है आचरण में इस सूत्र का अर्थ होगा कि जो सहज प्राकृतिक प्रतिक्रिया मालूम होती है वो मत करना उससे उल्टा करना तुम्हारा जीवन धार्मिक होता चला जाए जीसस को सूली दी गई और अंतिम समय कहा गया कि तुम्हें कुछ कहना तो नहीं तो जीसस ने परमात्मा की तरफ हाथ उठा के कहा कि इन सबको क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे जब तुम्हें कोई सूली दे रहा हो तो तुम्हारे मन से अभिशाप निकल सकते वरदान के निकलने का कोई उपाय नहीं अभिशाप बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है वो तो पशुओं से भी वही निकलेगा पत्थर से भी वही निकलेगा उसके लिए मनुष्य होने की कोई जरूरत नहीं है वो तो जीवन का जड़ नियम है जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है और आग जलाती है ऐसी ही पशुता क्रोध के उत्तर में दुगना क्रोध पैदा करती वो पशुता का सहज नियम है लेकिन पशु का अर्थ है जो थिर है और जो गतिमान नहीं है पशु का अर्थ है जो जड़ है रुका है और जिसके जीवन में कोई ऊर्ध्व गमन नहीं है संस्कृत का यह शब्द पशु बड़ा अद्भुत है संस्कृत के सभी शब्द अद्भुत है कोई भाषा इस अर्थ में वैज्ञानिक नहीं है जैसी संस्कृत है एक एक शब्द के पीछे पूरा तत्व दर्शन है और एक एक शब्द को ऐसे ही काम चलाओ ढंग से नहीं बना लिया गया है बड़े विचार और बड़ी चिंतना से निखारा गया है पशु शब्द बनता है पास से पास का अर्थ होता है जो बांध ले बंधन पशु का अर्थ है जो बंधा हुआ है पशु का अर्थ जानवर नहीं है जो बंधा हुआ है जो जकड़ा हुआ है जो प्रकृति के अंधे नियमों का गुलाम है जो स्वतंत्र नहीं है पशुता से ऊपर उठना हो तो प्रकृति जो सहज रूप से करने को कहे उससे विपरीत को तुम अपनी साधना समझना जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो तुम रोना और जब तुम्हें कोई गाली दे तो तुम हंसना अगर जीवन इस एक छोटे से सूत्र को मान के चल पड़े तो मोक्ष ज्यादा दूर नहीं और तुम्हें परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ेगा परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ आ जाए फिर उसकी तलाश की कोई जरूरत नहीं है एक बार तुमने जीवन की साधारण प्रक्रिया को बदल के विपरीत किया कि तुम सत्य के जगत में प्रवेश कर गए कि तुम उस पथ पर आ गए जहां से सत्य तुम्हें खींच लेगा अभी हम उल्टे खड़े जिसे हम सीधा होना समझ रहे हैं वो शीर्षासन है हमें सब उल्टा दिखाई पड़ रहा हमें पैर के बल खड़ा होना होगा जैसे हम हैं उससे उल्टा हो जाना पड़ेगा सारे संतों का बस एक ही प्रयास है कि तुम्हारे जीवन की जो अंधी प्रक्रियाएं हैं वे होशपूर्ण हो जाएं। तुम जहां जड़ की तरह व्यवहार करते हो यंत्र की तरह व्यवहार करते हो वहां तुम सचेतन हो जाओ और सचेतन कोई तभी होता है जब प्रकृति का अतिक्रमण करता है कोई गाली दे तो क्रोध करने के लिए सचेतन होने की कोई भी जरूरत नहीं क्रोध मूर्छा है उसके लिए होश की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन कोई गाली दे और क्षमा करना तो बहुत सावधान होना पड़ेगा बहुत जागरूक होना पड़ेगा बहुत चित्त को ऊंचाई पर उठाना पड़ेगा भीतर की ज्योति को खूब जगमगाना पड़ेगा तब भी डर है कि क्रोध की पुरानी आदत पकड़ ले और नीचे खींच ले लेकिन बड़े मजे की प्रक्रिया है अगर कोई व्यक्ति जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को उल्टा करने लगे तो बड़ा रस उपलब्ध होगा तब पूरा जीवन एक प्रयोगशाला हो जाती तब दूसरे भी बहुत चकित होंगे क्योंकि दूसरे भी तभी चकित होते हैं जब वो पाते हैं कि तुम अंधे नहीं हो दूसरे भी तभी चकित होते हैं और मुसीबत में पड़ते हैं जब तुम उनके सहज अनुमान के अनुसार नहीं चलते हो बुद्ध को कोई गाली देता तो बुद्ध चुपचाप सुन लेते बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है तो बुद्ध चुपचाप अपनी चादर से पहुंच लेते हैं और जिसने थूका है उस आदमी से कहते हैं तुम्हें कुछ और भी कहना आनंद क्रोध से भर जाता है उनका शिष्य और वो कहता है आप क्या पूछ रहे हैं इस आदमी से ये पागल है और इसने आपके ऊपर थूका मुझे आज्ञा दें तो मैं इसे ठीक करूं बुद्ध कहते हैं उसे मैं क्षमा कर दूं क्योंकि वो ना समझे लेकिन तू इतने दिन से मेरे पास है और तू बिल्कुल ही मूर्छित व्यवहार कर रहा है ये आदमी कुछ कहना चाहता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता इसलिए थूक के प्रकट कर रहा है थूकना एक भाषा है बहुत बार भाव गहरा होता है आप प्रकट नहीं कर पाते किसी को गले लगा लेते वो एक भाषा है कुछ इतना गहरा था हृदय में जिसे शब्द नहीं कह पाते तो आप छाती से लगा लेते तो बुद्ध कहते हैं कुछ भाव है इसके मन में बहुत गहरा जिसको ये शब्द से नहीं कह पाता थूक के जाहिर कर रहा है बड़े गहरे क्रोध से भरा है वो क्रोध शब्द से पूरा नहीं होगा इसलिए मैं उससे पूछता हूं कि और भी कुछ कहना इतना कहा ये समझा कुछ और भी कहना है कुछ इसकी व्याख्या भी करनी वो आदमी तो बड़ा बेचैन हो गया क्योंकि जब कोई आपके ऊपर थूके तो अपेक्षा करता है कि अब कुछ उपद्रव होगा लेकिन यहां एक तात्विक चर्चा छिड़ जाए कि थूकना भी एक भाषा है और इस आदमी ने कुछ कहा है तो वह आदमी थोड़ा बेचैन हुआ उसे थोड़ा अपराध भाव लगा होगा कि मैंने गलत आदमी पे थूक दिया वो चला गया वो दूसरे दिन सुबह आया बुद्ध के चरणों में सिर रख के रोने लगा उसकी आंख से आंसू बहने लगे उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दे मैं कल आपके ऊपर थूक गया था मुझसे बड़ी भूल होगी मैं पीछे पछताया मैं रात भर सो नहीं सका बुद्ध ने कहा तू बिल्कुल ना समझ उस बात को बीते कितना समय हो गया तब से गंगा का कितना पानी बह गया अब उसको तू याद क्यों रखे और तूने थूका था हमने उसे लिया नहीं था इसलिए व्यर्थ पश्चाताप मत कर तूने थूका होगा लेकिन हमें कोई चोट नहीं पहुंची इसलिए तू व्यर्थ पश्चाताप मत कर और बुद्ध ने आनंद से कहा आनंद देख ये आदमी फिर कुछ कहना चाहता है लेकिन बात इतनी गहन है कि नहीं कह पाता तो उसने आंसुओं से पैर धो डाले व्यक्ति जैसे ही जीवन की सामान्य धारा के ऊपर अपने को उठाना शुरू करता है एक बड़ी रसपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती और एक बहुत मधुर और एक बहुत मीठी यात्रा का प्रारंभ होता है जो रोज रोज मधुर होती जाती रोज रोज मीठी होती जाती रोज रोज सुगंधित होती जाती और भीतर एक रस झरने लगता है इस यात्रा के अंत में ही अमृत की वर्षा है लेकिन जैसे हम हैं जहां हम हैं हम बिल्कुल उल्टे हैं हम वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए हम वैसे ही जी रहे हैं जैसा नहीं जीना चाहिए हम अपने ही हाथ से कांटे बो रहे हैं और अपने ही हाथ से मार्ग पर पत्थर रख रहे हैं जिनकी वजह से यात्रा असंभव हो जाएगी हम अपने ही दुश्मन हैं तत्व और आचरण दोनों में ये सूत्र ख्याल में आ जाए कि हमारी बुद्धि विपरीत देख रही है तो जीवन के रूपांतरण की कुंजी आपके हाथ में उपलब्ध हो जाती है इसका मूलभूत तत्व वह परमेश्वर है वही ब्रह्म है और वही अमृत सब लोग उसी के आश्रित हैं कोई भी उसको लांग नहीं सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था उसको कोई लांग नहीं सकता उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं उसको ट्रांसेंड नहीं किया जा सकता परमात्मा का अर्थ ही यही है कि जो अंत है कि जो आखिरी सीमांत जिसके पार कुछ शेष नहीं रह जाता अगर उसके पार कुछ शेष रह जाता है तो वो परमात्मा नहीं इसे ऐसा समझें कि जब तक आपके मन में पाने की कोई कामना है तब तक आप परमात्मा नहीं जिस दिन आपके मन में पाने की कोई कामना न रही उसका अर्थ हुआ कि अब आगे जाने को कुछ भी ना बचा उस दिन आप परमात्मा हो गए इसलिए ज्ञानियों ने परमात्मा की परिभाषा की है निर्वासना से भरी हुई चेतना क्योंकि वासना अतिक्रमण करना चाहती और आगे और आगे और वासना अनेक रूप लेती है वो कहीं भी तृप्त नहीं होती अगर आप इसी क्षण जैसे हैं वहीं तृप्त हो जाएं और कह दें कि बस आगे और कुछ भी मांग नहीं कहने से नहीं होगा ये भीतर भाव प्रविष्ट हो जाए तो इसी क्षण आपका सब अंधकार गिर जाए और आप परमात्मा हो जाए परमात्मा का अर्थ है इसी क्षण में पूर्ण तृप्ति जिसके पार कुछ भी नहीं बचता लेकिन आदमी बहुत उपद्रवी है अगर वो एक तरफ से अपने उपद्रव को छोड़ता है तो तभी छोड़ता है जब दूसरी तरफ अपने उपद्रव को तैयार कर लेता एक मित्र मेरे पास आए वृद्ध थे रो रहे थे बड़े भाव से भरे थे रो के कह रहे थे कि मेरी कुंडलनी अभी तक जगी नहीं 20 वर्ष से भटक रहा हूं न मालूम कितने आश्रम कितने गुरु कितनी साधनाएं कर चुका हूं लेकिन कुंडली नहीं जगी उनके भाव में कमी नहीं उनकी खोज में कमी नहीं लेकिन उनकी मौलिक दृष्टि भ्रांत है वो कुंडलनी को ऐसी खोज रहे हैं जैसे कोई धन को खोजता हो और न मिले तो रोता हो न मिले तो परेशान हो पीड़ित हो संतप्त हो कुंडलनी उनका लोभ बन गई और ध्यान रहे इस आंतरिक यात्रा की यही सबसे बड़ी कठिनाई कि वहां लोभ के द्वारा कोई भी प्रवेश नहीं हो सकता वहां तृप्ति के द्वारा प्रवेश है जो नहीं मिला है उसकी फिक्र छोड़ें जो मिला है उसका अनुग्रह माने और प्रवेश बढ़ता जाएगा लेकिन वो परेशान है वो परेशानी से कुंडलनी जागृत होने वाली नहीं है उस परेशानी से ही रुकी है बीस साल की खोज के कारण नहीं मिली ऐसा नहीं है बीस साल की खोज के कारण ही रुकी वो जो अति तनाव है पाने का उसी से भीतर सब सिकुड़ गया है जहां पाने का तनाव रहेगा वहां हम संसार में हैं ये पाने की दौड़ संसार है और न पाने के लिए राजी हो जाना संसार से बाहर हटने लगना है एक आदमी धन के लिए दौड़ रहा है एक आदमी पद के लिए दौड़ रहा है एक आदमी यश के लिए दौड़ रहा है और एक आदमी मोक्ष के लिए दौड़ रहा है फर्क क्या है कोई भी फर्क नहीं मोक्ष के लिए दौड़ा ही नहीं जा सकता मोक्ष तो खड़े होने वाले को मिलता है धन के लिए दौड़ा जा सकता है क्योंकि धन खड़े होने वाले को नहीं मिलता दौड़ने वाले को भी नहीं मिल पाता तो खड़े होने वाले को तो मिलने का कोई उपाय नहीं धन पद यश सब दौड़े मोक्ष दौड़ नहीं है मोक्ष ठहर जाना है रुक जाना एक साधिका ने आज ही मुझे आके कहा कि अभी तक कोई अनुभव नहीं हो रहा अनुभव करना क्या है प्रकाश दिखाई पड़ने लगे तो कुछ हो जाए कि भीतर रंग दिखाई पड़ने लगे तो कुछ हो जाए कि भीतर कोई सुगंध आने लगे तो कुछ हो जाए या आपके हाथ से राख झड़ने लगे तो कुछ हो जाएगा कि ताबीज निकलने लगे तो कुछ हो जाएगा क्या आप बीमारों को छू दें और वो ठीक हो जाए तो कुछ हो जाए वो सब खेल संसार का है और मन का है अनुभव की तलाश लोभ है उस तलाश को गिर जाने दे अनुभव को नहीं चाहिए अनुभोक्ता को वो जो अनुभव करने वाला है उसकी पहचान अनुभव तो फिर भी पराए बाहर है अध्यात्म अनुभव नहीं है अध्यात्म अनुभव जिसको होते हैं उसके साथ एक हो जाना है जिसके सामने प्रकाश आते और जिसके सामने सुगंधें तैरती और जिसके सामने रंगों की बहार आ जाती है और इंद्रधनुष फैल जाते और जिसके भीतर संगीत बजने लगता है लेकिन ये सब बाहर ही है चाहे आंख बंद करके ये घटनाएं घट रही हो तो भी बाहर है इनको जानने वाला तो और भीतर है जानने वाला हमेशा जिसे भी जानता है उससे भीतर है पीछे है पार है और जब तक आप जानने वाले में न ठहर जाएं तब तक अध्यात्म का कोई स्वाद नहीं आपको मिल सकता तो कोई बाहर का सेंसेशन खोज रहा है कि चलो फिल्म देखें रेडियो सुने कोई नायिका आई कोई नर्तकी आई उसको देखें कोई बाहर का रूप रंग खोज रहा है कुछ भीतर के रूप रंग खोज रहे हैं कि चलो कुंडलनी जगाएं भीतर का प्रकाश देखें कि भीतर का आनंद लें लेकिन खोज वही है कि कुछ सेंसेशन कोई उत्तेजना दोनों ही अध्यात्म नहीं है अध्यात्म तो उसकी तलाश है उस चैतन्य की उस साक्षी भाव की जहां सब अनुभव समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभोक्ता रह जाता है जहां सब दृश्य खो जाते हैं और केवल दृष्टा मात्र रह जाता है जहां सब गेय समाप्त हो जाते हैं और मात्र ज्ञाता शेष रह जाता है उस केवल ज्ञान की उस कैवल्य की खोज अध्यात्म सब लोग उसी के आश्रित हैं कोई भी उसको लांग नहीं सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था तो जिस दिन आप उस घड़ी में पहुंच जाएं जहां लांघने को कुछ न बचे समझना कि आ गया घर समझना कि आ गया वो मंदिर जिसकी तलाश थी ये इसी क्षण भी हो सकता है क्योंकि परमात्मा का समय से कोई संबंध नहीं कि साल लगेगी कि दो साल लगेगी कि दो जन्म लगेंगे कि पचास जन्म लगेंगे आपके ऊपर निर्भर है अनंत जन्म लग सकते और एक क्षण भी काफी है ये बोध साफ हो जाए कि नहीं कुछ लांघना है नहीं कहीं जाना है नहीं कुछ पाना है जो भी मैं हूं वहीं परम तृप्ति का भाव सजग हो जाए तृप्ति का दिया जल जाए इसी क्षण आप उसमें प्रवेश कर गए जिसको लांघने का कोई उपाय नहीं जो लांगने की कोशिश कर रहा है वो संसार में भटकता रहेगा हम सब लांगने की कोशिश कर रहे हैं और और कुछ भी हो चाहे कुंडलनी हो और चाहे धन हो और और चाहिए कुछ भी हमें मिल जाए और की दौड़ धूप नहीं मिटती वो और की आपाधापी भीतर जारी रहती और और ये और ही संसार है जो है उससे राजीपन जितना है उससे स्वीकार जो है उससे एक तथाता का भाव एक परम अहोभाव उसको लांगने की कोई वृत्ति नहीं लांगने की वृत्ति का नाम महत्वाकांक्षा है एम्बिशन है दस रुपए पास हो तो लांगने की वृत्ति कहती है कि सौ के बिना कैसे चलेगा सौ पास हो तो लांगने की वृत्ति कहती है हजार के बिना कैसे चलेगा और ये वृत्ति कभी समाप्त नहीं होती एंड्रू कार्नेगी मरा तब उसके पास दस अरब रुपए थे मरने के दो दिन पहले उसने कहा कि मैं अतृप्त मर रहा हूं क्योंकि मेरे इरादे 100 अरब रुपए इकट्ठे करने के थे 10 अरब केवल जैसे कोई भिकमंगा कहे 10 पैसे केवल 10 नए पैसे 10 अरब केवल 100 अरब की योजना थी और ये मत सोचिए कि 100 अरब से कोई फर्क पड़ जाता 10 अरब से जब कोई फर्क नहीं पड़ा सौ अरब से क्या फर्क पड़ने वाला था जब तक आप सौ अरब पर पहुंचते हैं तब तक आपकी महत्वाकांक्षा हजार अरब पर पहुंच चुकी होगी वो सदा आपके आगे है जैसे छाया पीछे चलती है वैसे महत्वाकांक्षा आगे चलती है जहां आप पहुंच जाते हैं वो सदा उससे आगे होती है